بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है कहो वो अल्लाह है यकता अल्लाह सबसे निरपेक्ष है और सब उसके मोहताज हैं न उसकी कोई संतान है और न वो किसी की संतान और कोई उसका समकक्ष नहीं है